सकै न बोली विकल नर हो शोक जनित दारुण दाऊ नाय से सपद अति अनुरागा उठ रघुबीर दात मा गा पितुवसीषया यशु मोहि दीजय की जय मौकत किए प्रिय प्रेम प्रमादो जसु जग जाए हो सुन सने बस उठि नर नाहा बैठा रे रघु पति गशिबा सुनहुता तुम कह मुन ही रामो चराचर नायक राजा व्याकुल हैं बोल नहीं सकते हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं हे तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में स्नेह जाता रह, रहेगा और निंदा हो यश जाता रहेगा और निंदा होगी सुन सरे बस उठ नर नहा बैठा रे रघु पति गहिबा सुनहुतात तुम कह मुनि कहे रामो चराचर नायक यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा हे ताप सुनो तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है शुभ यरु अशुभ करम अनुहारे इस देव फल हृदय विचारी करई जो करम पाव फल सोये निगमने तियसे कह सब कोई और करे अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति जग जानय जोग शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है जो कर्म करता है वही फल पाता है ऐसी वेद की नीति है यह सब कोई सब कोई कहते हैं किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है अपराध तो कोई और ही कर रहे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है उसे जानने योग्य जगत में कौन है राज राम राखन शीतलागे बहुत उपाय किए छल त्यागी लखी राम रुख रहतन जाने धरम धुरन्धर धीरसयाणि तब निपसीय लाय उरली अतिहित बहुत भाति सिख दी कही बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समुझाए राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी वन के दुसह दुख कहकर सुनाए फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया अनुराम चरण अनुरागा घरण सुगम बनु विषमुन लागा रऊ सब ही सिय समुझाए कह कह बेपेन विपति अधिकाई सचिव नारे गुरु नारी सयाने सहित स्नेह कह मृदुबानी मैं कहूँ तो न दिन बासु करहु जो कही ससुर गुरु सासु परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो सीख शीतलिहित मधुर मृदु सुन से तहे न सुहा शरद चंद चंदिन लगत जनु चकुलान यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने में सीता जी को अच्छी नहीं लगी वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो